और जिन लोगों ने हमारी आयतों को छुटलाया है उन्हें हम इस तरह धीरे धीरे पकड़ में लेंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा